बेशक अल्लाह ही दाने और गुठली को फाड़ने वाला है वो जानदार चीजों को बेजान चीजों से निकाल लाता है और वही बेजान चीजों को जानदार चीजों से निकालने वाला है लोगों वो है अल्लाह फिर कोई तुम्हें बहकाकर किसी औंधी तरफ लिए जा रहा है